बन्द गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुञ्ज जासु वचन रवि करनि कर संति सरल चित जगत हित जानी शुभाउसनी बाल विनय सुनि कर कृपा राम चरण रति दे ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय <clears throat> जैसा कि एकादशी व्रत बीता हुआ है तो हम बताएंगे कि सत्यम शिवम सुंदरम जैसा कि शिव के लिए आता है कि सत्यम शिवम सुंदरम यह प्रश्न हर व्यक्ति के यह श्लोक हर व्यक्ति के जबान पे रहता है वो कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं अपने लड़कों का भी नाम रखते हैं कि किसी का सत्यम रख दिए किसी का शिव रख दिए किसी का सुंदर किंतु जहाँ शब्द होता वहाँ अर्थ होता है यह शिव के लिए ही कहा गया है और किसी के लिए नहीं कि सत्यम शिवम सुंदरम जो सत्य है वह शिव है वही सुंदर है किंतु ये श्लोक को लोग सुनते हैं यादाश्त भी कर लेते हैं और लोग इसको मंत्र के रूप में भी जाप करते हैं कहीं कहीं पे तो इसको मंत्र के रूप में भी उपयोग किया जाता है उनसे पूछो कि आप क्या जपते हैं कहेंगे शिव का मंत्र जपते हैं तो शिव के मंत्र में क्या जपते हैं कहेंगे सत्यम शिवम सुंदरम किंतु उसका अर्थ क्या होता है उनको भी नहीं मालूम यह सत्यम शिवम सुंदरम है क्या तो इसको हम आपको अलग अलग समझना होगा कि सत्य क्या है शिव कौन है और सुंदर क्या है तो ये <clears throat> तो पहले सत्य क्या है तो सत्य के लिए कहते हैं कि सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत पसार नित्या नित्य विवेक ली लीजय बात विचार कि सत्य वस्तु आत्मा है और असत्य क्या है कहते मिथ सत्य वस्तु है आत्मा मिथ्या जगत पसार जगत क्या है कहते मिथ्या नश्वर है आज है कल नहीं है और उसमें सत्य क्या है कहते आत्मा तो इस दोनों का भेद कौन जानता है कहते नित्या नित्य विवेकिया लीजिए बात विचार जो नित्य और नित्य का विवेक रखता है वह सत्य को धारण करता है असत्य को त्याग देता है जैसे भगवान शंकर से माता पार्वती ने पूछी कि इस जगत में सत्य क्या है असत्य क्या है तो भगवान शंकर ने कहा अपना अनुभव दिए कि सत्य उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सत्य हरि भजन जगत सब सपना कि हे उमा मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ तो उन्होंने क्या बताया कि सत हरि भजन जगत सब सपना अनुभव के लिए लोग कहते हैं कि हमने अनुभव कर लिया था कि ऐसा घटना घटेगी इसीलिए हम वहाँ नहीं गए या हमने अनुभव कर लिया था कि पानी बरसेगा इसीलिए अपना हम जो धन था संपत्ति था अन्न था हमने बचा लिया किंतु अनुभव है क्या संसार में अनुभव आदमी करता है धोखा भी खाते हैं अनुभव के नाम पे तो अनुभव कहाँ है किस पे अनुभव किया जाता है तो कहते यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य भजें जय संता यद्यप वह ब्रह्म अखंड है अनंत है जिसका खंडन नहीं किया जा सकता जिसका आदि है न अंत है उस परमात्मा को हम भजे कैसे कहते अनुभव गम्य भजे जय संता अनुभव के माध्यम से उस अखंड अविनाशी परमात्मा को भजते हैं तो भगवान शंकर उसी अनुभव का सहारा लेके उन्होंने सत्य को जाने कहते हैं कि सत हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि है और हरि का भजन और जगत क्या कहते सपनवत है आज है कल नहीं है इसी सत्य पे हर महापुरुषों ने दृष्टि डाले हर महापुरुषों ने जोर दिया गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के भजन है कि जग असार में सार रसना हरी हरी बोल कि जग असार नस्वर है आज है तो कल नहीं है इसमें सार तत्व तो है क्या कहते हरी हरि बोल अर्थात ईश्वर और ईश्वर का नाम वही सत्य है इधर भगवान शंकर भी कह रहे हैं कि सत्य हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि है और हरि का भजन अर्थात हम एक ईश्वर के तरफ समर्पित होके एक ईश्वर का नाम का जाप कर रहे हैं तो हम सत्य के तरफ अग्रसर हैं हम विवेकी हैं विवेक का मतलब यह नहीं है कि बुद्धि का प्रखर हो जाना विवेक कहाँ से आता है कि हम सत्य को ग्रहण करेंगे असत्य को त्यागेंगे कहते हैं कि बिन सत्संग विवेकन होई राम कृपा बिन सुलभ न सोई जब तक हम सत्संग नहीं करेंगे तब तक विवेक की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है जब विवेक होगा तभी हम सत्य असत की परिभाषा को समझेंगे और सत्य को पकड़ेंगे और सत्य की तरफ चलेंगे तो यह सत्संग एक तो सत्संग हम आप महापुरुषों के जबान मुखार बिंद से सुनते हैं वह हमको बताते हैं किंतु एक सत्संग वास्तविक सत्संग यह है कि आत्मा के साथ संग करना है जैसे भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम था अध्यात्म ज्ञान नित्यत्व आत्मा के आधिपत्य में निरंतर चलना उस आत्मतत्व में आप आत्मा के आधिपत्य में चलते चलते आत्मतत्व का दर्शन स्पर्श उसमें प्रवेश इतना तो ज्ञान है इसके अलावा जो कुछ भी है वो अज्ञान है यह विवेकी पुरुष ही चल पाता है उस सत्य के तरफ पहले न्यूनतम स्थिति होती है अर्थात हमने सत्य को समझे सत्पुरुषों के द्वारा महापुरुषों के द्वारा अब उसी सत्य पे हम आचरण करना शुरू किए चलना शुरू किए और उसी सत्य पे चलते चलते एक दिन उसी सत्य का दर्शन स्पर्श उसमें प्रवेश जैसे भगवान कृष्ण कहते हैं कि नए ज्ञान न सदृशम पवित्र में विद्यते तत्स्वयं योग संसिधि कालनात्मन बिंदती कि ज्ञान के समान पवित्र करने वाला नहीं संदेह कुछ भी नहीं है जिसको पवित्र किया है तो वह ज्ञान ने ही पवित्र किया है तो भगवान अर्जुन ने कहा भगवान तब अर्जुन ने कहा कि भगवान वह ज्ञान हमको प्रदान कर दो तो भगवान कृष्ण ने कहा नहीं तत्स्वयं योग सिद्धि काले नात्मन बिंदती कि हे अर्जुन तत्स्वयं तुमको उस पर चलना होगा कहाँ चलना होगा कहते योग संसिद्धि योग और भोग दो प्रश्न होते हैं योग हमको और योग वह विधि है जो हमको परमात्मा की तरफ ले जाता है और भोग वह क्रिया है विधि है जो हमको संसार असत की तरफ ले जाता है और योग सत की तरफ ले जाता है कहते तत्स्वयं योग संसिद्धि इसलिए अर्जुन तुम योग का अभ्यास करो जैसे <clears throat> एक महात्मा कबीरदास का दोहा है कि परमात्मा है सब जगह मगर नज़र आता नहीं योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं परमात्मा सब जगह है कड़कड़ में व्याप्त है किंतु नज़र दिखाए नज़र पे किसी को नहीं आता है उसके लिए कहते योग साधन के बिना उसे कोई पाता नहीं अर्थात असत नश्वर जो संसार है उस जो भोग भोगमय संसार है उसका त्याग करके जो सत्य शाश्वत परमात्मा उसके लिए हम योग करेंगे प्रयत्नशील होंगे तो उसके लिए हम पहले न्यूनतम स्थिति खड़े होते हैं अर्थात जैसे क्लास का विद्यार्थी पहली क्लास का विद्यार्थी विद्यार्थी ही होता है एम ए कर रहा है या बी ए कर रहा है वह भी विद्यार्थी ही होता है <clears throat> जब तक वह विद्या को अध्ययन कर रहा है वह विद्यार्थी कहा जाता है किंतु जिस दिन उस विद्या से उत्तीर्ण हुआ तो विद्यार्थी नहीं कहा जाता है इसीलिए भगवान कृष्ण कह रहे हैं तत्स्वयं योग संसिद्धि इसलिए अर्जुन तुमको योग करना होगा योग कब तक करना होगा कहते योग संसिद्धि योग के परिपक्व अवस्था में कालनात्मन बिंदती अपने हृदय के अंतराल में ही उस ज्ञान को प्राप्त करोगे ज्ञान माने होता प्रत्यक्ष परमात्मा की जानकारी इसको भगवान कृष्ण कहते हैं कि उस ज्ञान के अंतराल में चलते चलते उस आत्म तत्व का दर्शन स्पर्श और उसमें प्रवेश जिस क्षण वह प्रवेश पाया कहते वह सत्य को जाना तो वह <clears throat> जो सत्य को प्राप्त किया है वह वह महापुरुष की स्थिति क्या होती है तो कहते शिव जैसे है कि सत्यम शिवम शिव है कौन तो शिव के लिए लोग कहते हैं कि शिवलिंगी बना लेते हैं मूर्ति लगा रख लेते हैं मंदिर बना देते हैं किंतु इस शिव एक स्थिति है जैसे भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में कहते हैं कि प्रकृति पार प्रभ सब उर्वासी ब्रह्म निरी बीरज अविनाशी कि प्रकृति से पार कौन है कहते प्रभु सब उर्वासी वह परमात्मा प्रकृति से पार है तो कहाँ रहता है कहते प्रभु सब उर्वासी सबके हृदय में वह निवास करता है तो वह जो प्रकृति से परे परमात्मा है वह सबके हृदय में निवास करता है तो वह परमात्मा को जो प्राप्त कर लेते उन महापुरुष को शिव कहते जैसे कहते हैं कि आदि शंकराचार्य के शिष्यों ने शंकर आदि शंकर महाराज से पूछे कि इस जगत में कल्याण करने की क्षमता किस महा किस पुरुष में है कहते को पूजनीयम कि इस जगत में पूजनी कवन है कहते को पूजनीय तो उन्होंने कहा शिव तत्व निष्ठा जो कल्याण स्वरूप में स्थित हो गए हैं जो जिस जिनकी वही निष्ठा हो गई वही विचार स्थिर हो गया कल्याण में ही स्थिर हैं ऐसे महापुरुष वह महापुरुष कहते प्रकृति की सीमाओं से अतीत होते हैं अर्थात वह जो परमात्मा प्रकृति से परे सबके हृदय में निवास करता है कालेनाथपन बिंदती अपने हृदय के अंतराल में उस योग के परिपक्व अवस्था में चल के अपने हृदय के अंतराल में जब जान लेते हैं उसी कल्याण स्वरूप में स्थित हो जाते हैं तो इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरित मानस में पहले अध्याय के जो वंदना किए हैं बालकांड में तो उसमें उन्होंने स्पष्ट बताया कि शिव कौन है कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरु शंकर रूपिणम सुतो ही बक्रोप चंद्र सर्वत्र बंदिते कि वंदे बोधमयम नित्यम इस जगत में बंदनी कौन है पूजनी कौन है किसकी पूजा करें कहते वंदे बोध जिसको बोध हो गया है बोध और अबोध दो शब्द होता है जैसे नाबालिग बच्चा होता है आपका कुछ भी नुकसान कर दे अच्छी से अच्छी चीज़ नुकसान कर दे आप कहेंगे अबोध है अभी नाबालिग है इसको कुछ न बोलो किंतु कोई बड़ा हो के नुकसान कर दे तो कहेंगे तो बा, बालिक हो गया था इसको बोध हो गया था इसको जानकारी है कि इसको नष्ट करने से इतना नष्ट हो जाएगा फिर भी इसने नष्ट किया संसार में आदमी बोध अवबोध की श्रेणियां खड़ी करते हैं किंतु जब तक मनुष्य संसार में अक्ल नित्य सर्वगता स्थाड़ु अचलो यम सनातन जो अक्षेद है अदाय है कत अच्छेदो यम अदाय हम अक्लेदो एवच जो इसको जिसको छेदा नहीं जा सकता जिसको जलाया नहीं जा सकता जिसको गीला नहीं किया जा सकता जिसको आकाश अपने विलय नहीं कर सकता वो है क्या कहते अचलो यम सनातन वो अचल स्थिर सनातन है वो है क्या उसके लिए कहते परमात्मा सत्य एक परमात्मा है जिसको उस नित्य अविनाशी परमात्मा का बोध हो गया है तो वो अब कहते हैं कि वंदे बोधमय नित्यम गुरु शंकर रूपिणम वही गुरु ही शंकर होते हैं अर्थात शंकर कोई मूर्ति नहीं है शंकर जो शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत महापुरुष हैं वह शंकर हैं उन्हीं महापुरुष से हम आपका कल्याण होगा क्योंकि वह अपना कल्याण कर चुके हैं तो हम आपकी कल्याण करने की क्षमता रखते हैं अर्थात जो विद्या को अध्ययन कर लिया वह अध्यापक कहा जाता है वो उस, उसके पास जो जाता है वह उसको विद्या प्रदान करता है इसी प्रकार जो योग के योग पे चल के योग का परिणाम परमात्मा को जान लिए हैं वह महापुरुष हम आपको योग प्रदान कर सकते हैं अर्थात जो कल्याण कर चुके हैं अपना शिव स्वरूप में स्थित हैं प्रकृति की सीमाओं से अतीत हैं ऐसे महापुरुष हम आपको प्रकृति की सीमाओं से अतीत कर सकते हैं हम आपका कल्याण कर सकते हैं तो ऐसे महापुरुष जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत होते हैं तो उनके लिए कहते सुंदरम अर्थात वही जगत में पूजनीय होते हैं वही सुंदर होते हैं जैसे पूज्य दादा गुरु परम हंस महाराज की जीवनी में आता है कि उन्होंने एक बार अनुभव में देखा कि हम ही मर गए और अपने ही लाश को शरीर को ले जा के मंदाकिनी के किनारे नदी के किनारे जला रहे हैं तो जलाते जलाते इतना परिश्रम कि एक पसीना पसीन पसीने में लथपथ हो गए जब सब कुछ करने के बाद जिस जगह लाश को जलाए थे उस जगह को धो धा के साफ करने करके जब खाली हुए और जब लाचार होकर एकदम लफत होकर खड़े हुए तो देख क्या रहे हैं कि एक नदी में से सोने की तरह धधकता हुआ उन्हीं के जैसा स्वरूप निकला और बीच नदी में निकल खड़ा हुआ फिर आवाज आई इस इस स्वरूप को प्रणाम करो यह आपका सहज स्वरूप है तो परमहंस दादा पूज्य दादा गुरु कहते थे वह स्वरूप ऐसा लगता था बहुत सुंदर अर्थात वो आत्मा जो अविनाशी है जो अक्लेद है जिसको अग्नि अक्लेद है जिसको अग्नि नहीं जला सकती वायु अपने में विलय नहीं कर सकता शस्त्र काट नहीं सकता है इस शरीर का सब कुछ हो सकता है किंतु तो उस आत्मा सबसे सुंदर है तो उसी स्वरूप को जब उन्होंने पाया तो वह कहे कि वह आत्मा इस शरीर से बहुत सुंदर है अर्थात जो अपने आत्मस्वरूप में स्थित हैं ऐसे महापुरुष ही सुंदर होते हैं वह जगत में पूजनीय होते हैं उन्हीं से सब आप हम आपका कल्याण होता है जैसे महात्मा कबीर ने कहा कि कबीर हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए ऐसी करनी कर कर चलो हम हंसे जग रोए कि कबीर दास जी कहते हैं कि हम जब पैदा हुए तो जगत ने हंसा हमने रोया किंतु कहते ऐसी करनी कर चलो हम हंसे जग रोए उन्होंने ऐसी करनी किया क्या किए भोग का त्याग किए योग को साधे योग का परिणाम जब उस परमात्मा को अविनाशी को प्राप्त किए आज आज उन महापुरुष के लिए हम आप दो वासु पाते ही रहते हैं उनको याद करते हैं अपने आजा दादा को कोई नहीं याद करता है तो वह महापुरुष ही सुंदर होते हैं वही पूजनीय है जो सत्य को प्राप्त किए हैं जो असत्य को प्राप्त किए हैं वह आज हैं कल नहीं है वो छपरे पर की घास की तरह एक दिन नष्ट हो जाते हैं इसलिए जो सत्य को सत्य को प्राप्त कर चुके हैं जो सत्यनिष्ठ हो चुके हैं ऐसे महापुरुष को पकड़ो वही महापुरुष ही हम आपको उस सत्य की तरफ बढ़ा सकते हैं और कोई विधि नहीं है इसलिए एक घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनिया तुलसी संग की हरे कोट अपराध एक घड़ी आधी घड़ी जितना भी समय मिले जो शिव स्वरूप में स्थित महापुरुष हैं जो अपना कल्याण कर चुके हैं जो प्रकृति की सीमाओं से अतीत हैं उन महापुरुष के उपदेश उपदेश के अनुसार आचरण जब हम आप आचरण करेंगे तो एक दिन उसी स्थान को पा जाएंगे जिस स्थान पर वह महापुरुष बैठ के बोल रहे हैं इसलिए जो महापुरुष के द्वारा उपदेश मिल रहा है सदगुरु के द्वारा उपदेश मिल रहा है उसका आचरण करें ओम श्री सदगुरुदेव भगवान की जय